दोस्तों जय हिंद हम्म तो भाई तुम सब मिले चमकी से क्यों दोस्तों चमकी की बातें तुम्हें कैसी लगी <laughs> और भाई चमकी ने एक कहानी सुनाई थी वो कैसी लगी तुम्हें अरे वही कहानी चू चू चूहे वाली याद है हम्म, जरा सोचो तो एक चूहा था हम्म और उसे एक डिब्बा दिखाई दिया जिसमें उसने अपना घर बना लिया था क्यों दोस्तों नहीं याद वो कहानी तो लो आज हम वही कहानी तुम्हें दोबारा सुनवा रहे हैं तो लो सुनो वही कहानी चमकी की जुबानी एक था चूहा उसका नाम था चूचू चूचू हम्म <laughs> चूचू चूहा एक दिन अपने रहने के लिए बिल खोद रहा था वो अपने पंजों से मिट्टी खोदता खोदता थक गया पर बिल बना ही नहीं बार बार उस पर मिट्टी आ जाती और बिल बंद हो जाता चू चू परेशान होकर इधर उधर घूमने लगा तभी उसे एक घर में एक खाली डिब्बा दिखाई दिया बस उसे तुरंत एक तरकीब सूझी अरे क्यों ना डिब्बे में ही रहा जाए हाँ उसने डिब्बे को कुतर कुतर कर उसमें अपने रहने की जगह बना ली और मजे से उसमें रहने लगा यहाँ वहाँ घूमने जाता और रात को अपने नए घर में आकर सो जाता एक दिन वहाँ से खरगोश जा रहा था उसने डिब्बा पड़ा देखा तो सोचा इसमें घर बनाया जाए पर तभी डिब्बा हिला खरगोश ने आवाज दी और पूछा इस घर में कौन रहता है चूहा बोला मैं चूचू चूहा तुम कौन हो खरगोश ने कहा मैं चुन्नू खरगोश हूँ क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ चूचू चूहा बोला एक शर्त पर घर साफ रखना होगा मुझे गंदा घर अच्छा नहीं लगता खरगोश ने बात मान ली वो रोज घर को अपनी छोटी सी पूंछ से साफ करता और कूड़ा बाहर फेंकता घूमने जाता और फिर वापस घर आ जाता थोड़े दिन के बाद वहां से मेंढक निकला उसने डिब्बे को देखा और पूछा इसमें कौन रहता है खरगोश बोला मैं चुन्नू खरगोश चूहा बोला मैं चूचू चूहा मेंढक ने पूछा तर, तर, क्या मैं भी तुम्हारे घर में तर, रह सकता हूँ चूहा बोला एक शर्त पर घर गंदा नहीं करना अब खरगोश घर की सफाई पूंछ से करता मेंढक घर के मच्छर कीड़ों को खा जाता एक दिन एक दिन अरे क्या हुआ चमकी एक दिन खूब हवा चली पत्ते उड़े धूल उड़ी और डिब्बा भी उड़ने लगा डिब्बा जो उड़ा तो चू चू चूहा चुन्नू खरगोश और मेंढक उसमें से निकल कर भाग गए और कहानी खत्म हो गई क्यों बच्चों अच्छी लगी ना कहानी हम्म तो दोस्तों तुमने कहानी सुनी चूचू चूहे की <laughs> और अब वो कविता भी हो जाए ऐसे वही कभी न पहनो मैले कपड़े तो लो सुनो मैले कपड़े धो डालोगे साफ करोगे गंदे हाथ मैले कपड़े धो डालोगे साफ करोगे गंदे हाथ सभी तुम्हारे दोस्त बनेंगे सभी करेंगे तुमसे बात सभी तुम्हारे दोस्त बनेंगे सभी करेंगे तुमसे बात हाँ। अच्छा दोस्तों क्या तुम्हें वो भी किस्सा याद है कि एक बरगद के पेड़ पर बहुत सी चिड़िया रहती थी और वहीं एक कौवा भी रहता था <laughs> अरे वही कौवा जो उजला होना चाहता था हम्म तो क्या दोस्तों तुम्हें ये याद है कि बगुले ने क्या कहा था लो जरा सुनते हैं कि बगुले ने क्या कहा था लंबी लंबी चोंच है मेरी लंबे लंबे पैर लंबी लंबी चोंच है मेरी लंबे लंबे पैर एक पैर पर खड़ा में रहता लगता जैसे जब तक करता एक पैर पर खड़ा में रहता लगता जैसे जब तक करता जैसे मछली ये याद है कि बतख ने क्या कहा था अरे तक तक तर बतख मैं बोलती हूँ तक तक तर मैं बोलती हूँ तक तक तर मैं तो तैरू सर सर सर सा खरगोश था और खरगोश ने भी कुछ कहा था हम्म सुनोगे तुम लो सुनो लंबे लंबे मेरे कान छोटी लाल मेरी आंख लंबे लंबे मेरे कान छोटी लाल मेरी आंख खुदक खुदक कर चलता हूँ मैं सरपट सरपट दौड़ता हूँ मैं रंग है मेरा उजला उजला लगता कितना भला भला रंग है मेरा उजला उजला लगता कितना भला भला भाई फिर तो कौवे ने ये ठान ली कि वो उजला बनेगा फिर कौवा क्या बोला जरा कौवे को भी सुनो तो कर देता हूँ खूब सफाई और इसके बाद का किस्सा तो तुम्हें याद ही होगा हम्म कौवे का रंग बारिश में धुल गया और फिर सभी ने कौवे को खूब चढ़ाया कैसे चढ़ाया था जरा सुनो तो सही आया था उजला बनकर हम्म। भागा है काला बनकर आया था उजला बनकर भागा है काला बनकर <laughs> मैं तो चमकी हूँ मत वाली ही मैं तो चमकी हूँ मत वाली ही रंग बिरंग खिलौने वाली मैं तो चमकी हूँ मत वाली मैं तो चमकी हूँ मत वाली ही हाथ में मेरे ऐसा जादू हाथ में मेरे ऐसा जादू अरे खिलौने यूं ही बना दूं डिब्बे डंडी कागज दे दो दे दो अरे दे दो ना अरे दे भी दो डिब्बे डंडी कागज दे दो उससे भी मैं दिल बहला दूं उससे भी मैं दिल बहला दूं हमें तो